इसलिए वो तो ऐश्वर्य तो कहीं मिल जाता है पर भगवान के चरण कमल नहीं मिलते तो कहते हैं कि भाई ये प्रेमियों के जीवन की जो लालसा होती है वो लालसा किसी रूप में इस समय ब्रह्मा जी के अंत तल की तो सरिता अभी हिलोरे लेने लगी ये प्रेमी जन और विषय जन का तो अंतर है ही पर ज्ञानी योगी निष्कर्मी जन जो हैं उनसे भी प्रेमी जन की बड़ी विलक्षणता है ज्ञानी ज्ञान का बड़ा ऊंचा साधक अपने बंधन में खड़े हुए अहम को छुटकारा दिलाना चाहता है मुक्त हो जाऊं मैं मुमुक्षा जागृत होती है उसके अंदर तीव्र योगी वो परम ज्योति परमात्मा का साक्षात्कार का करके कृतार्थ होना चाहता है निष्काम कर्मी भगवान के परम पद को प्राप्त करना चाहता है तो प्रेमी जन ये भगवान के चरण कमलों का स्पर्श चाहते हैं और जीवन से उनकी सेवा होती रहे चाहे जीवन कीट पतंग का ही हो वो ये नहीं कहते कि हम शरीर मिलना चाहिए देव देह मिले पितर देह मिले गंधर्व देह मिले कहीं ब्रह्म लोग जन लोग तप लोग सत्य लोग इनकी प्राप्ति हो जगत के भोगों की तो बात ही नहीं ये उन प्रेमियों के मन में कभी भावना का उदय नहीं होता वो तो स्वाभाविक उनकी एक ही अभिलाषा होती है कि भगवान के श्री चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त होता रहे चाहे भगवान रहे कहीं वो भगवान के समीप रहने की भी आकांक्षा नहीं करते प्रेमी समीप रहे कि आक्षा आकांक्षा में भी काम है ये किसी ने पूछा ऐसा कि भाई श्री गोपांगनाएं जो रही ये तो वृंदावन में रही और मथुरा समीप तो थोड़ी सी दूर इन्होंने कभी मथुरा जाने का संकल्प ही नहीं किया क्यों नहीं किया तो उत्तर मिला कि ये प्रेमी का है काम का नहीं श्री कृष्ण यदि चाहेंगे तो अपने आप आ जाएंगे उनको सुख मिलेगा और अपने आप बुला लेंगे नहीं तो कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति तो है ही वो तो हृदय से कभी भी निकलते नहीं तो फिर समीपता और दूरता का प्रश्न रहता ही नहीं तो प्रेमी गण जो है जिन लोगों ने ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर के चरण कमल युगल पर अपने को न्यौछावर कर दिया है ऐसे प्रेमी जन अपने जीवन की एकमात्र लालसा को लिए ही उसी में वो संलग्न रहते हैं दूसरी लालसा का उदय हो जाए इसको भी वो अभाग्य मानते हैं दूसरी लालसा का उदय होना भी अभाग्य मानते हैं पूर्ति के बाद तो उदय हो तब न दूसरी चीज मन में आ गए तब तो वो कहीं उसकी पूर्ति की भी कल्पना करें पर उन प्रेमी जनों के हृदयों में तो दूसरी कल्पना आती नहीं वे केवल और केवल एक लालसा को लिए उसी के स्वरूप गत होकर उसी स्वरूप में परिणत होकर वे अपना अनंत जीवन एक शरीर का जीवन नहीं अनंत जीवन अतिवाहित करते हैं वो सचमुच वही भाग्यवान वही भाग्यवान क्यों भाग्यवान है कि उनके जीवन में भगवान का स्वयं स्नेह आविर्भूत होता है और उनके समीप भगवान स्वयं उनके स्नेह रस का आस्वादन करने के लिए पहुंचते हैं ब्रज में क्यों गए भगवान मथुरा में क्यों नहीं रहे क्या कंस के भय से ही कंकंस को क्या उसी समय नहीं मार सकते थे भगवान की जो अचिंत अपरिमित शक्ति सत्ता है उसके द्वारा भगवान क्या नहीं कर सकते तो वसुदेव के मन में क्यों प्रेरणा की कि तुम छिड़वा कर मुझे और नंदालय में रख जाओ ये उनको सौभाग्य देना है क्यों देना है कि भगवान के अंदर रस की पिपासा जागृत हो गई ये विलक्षण एक भाव है प्रेम साम्राज्य का जो भगवान में लालसा पैदा कर देगा और कहीं नहीं प्रेम के सिवा कहीं नहीं ये बात प्रेम की अधिकता जहां पर होती है वहां एक प्रकार का दिव्य रस दिव्य रस का उदय होता है और वो दिव्य रस जगत के किसी रस कुरस ग्रस से संस्पर्शित नहीं होता इसीलिए वो दिव्य प्रेम रस है उस प्रेम रस के भोक्ता केवल प्रेमास्पद भगवान ही होते होते होता नहीं इसलिए वो प्रेमास्पद भगवान स्वयं उस रस के लिए लालायित होते हैं ये अगले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा है कि वे मामूली मामूली चीजों के लिए भला दूध कोई खास चीज है अरे माता का स्तनपान क्या महत्ता रखता है जगत में अगणित पशु पक्षी जीव मनुष्य हैं और सभी माता का दूध पान करते इसमें है क्या माँ के दूध में कोई विशेषता थोड़ी है कि जिसके लिए भगवान लालयित हूं पर यशोदा मैया के दूध में विशेषता है क्योंकि यशोदा मैया का जो हृदय है ये केवल स्नेह रस परिपूर्ण है उसके अंदर किसी तत्व का किसी ज्ञान का किसी लोक का किसी परलोक का किसी लालसा कामना आकांक्षा ममता वासना का कहीं लेश नहीं ये गोपियों के घरों में जा जा करके मक्खन चुराया भगवान ने और खाया मानस ये आमंत्रण था प्रेम का ये दूसरी बात पर क्या गोपियां कहने आई थी कि हमारे घर में आप आके चोरी करना है क्या मां से गोपियों ने ये कहा कि यशोदा मैया आज तक आज तक नहीं होगा हमारे यहां भेजने चोरी करने के लिए कहा किसी गोपी ने छिपकर मां से छिपकर बाबा से छिपकर और जिनके घरों में चोरी करने जाना है उनसे भी प्रकारांतर से छिपकर माखन खाने के लिए पहुंचे क्यों पहुंचे ये जो नित्य तृप्त हैं नित्य निष्काम है नित्य संतुष्ट है उनमें यह असंतुष्टि उनमें यह तृप्ति उनमें यह कामना कहां से आ गई इसलिए आ गई कि गोपियों के मक्खन में गोपियों का हृदय समाया हुआ था जो अन्य मक्खन में नहीं बछड़े बने भगवान स्वयं ये ब्रह्मा जी की माया का तो नाश कर सकते थे ऐसे ही ब्रह्मा जी की माया का नाश करने में जो स्वयं मायेश हैं और माया जिनका हास्य विलास है वो क्या ब्रह्मा जी की माया का नाश करने के लिए उन्हें कोई प्रयास करना पड़ता उन्हें कोई चमत्कार दिखाना है ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी के अज्ञान का नाश कर देते तो ब्रह्मा जी बछड़ों को हटते ही नहीं पर वहां तुम तो बछड़ों की माओ का दूध पीना है भाव तो दूसरा है इन गायों का दूध पिए कैसे साल भर तक बिना बछड़े बने इन तो गायों का दूध पीने के लिए भगवान लालायित हो गए और स्वयं माई नहीं जगत में तो उनकी माया का खेल है और वहाँ भगवान अपने आप अपने खेल से इसीलिए तो ब्रह्मा जी को वो ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सका कि ये मेरी माया की तो चीज है नहीं कि जगत की तो के, उपादानों से बने हुए तो ये बछड़े और ये बालक है नहीं ये कौन है तब तो दिखाया इनको कि हम हैं और दूसरा कोई नहीं तो स्वयं बछड़े क्यों बने और फिर इन गोप बालकों के साथ खेलने में क्या मजा है इनको अरे बच्चे बहुत खेलते हैं बच्चे बहुत खेलते हैं ये अनाज अंत काल का ये जगत का चक्र चल रहा है इसमें बच्चे भी होते हैं बूढ़े भी होते हैं बच्चे खेलते ही हैं पर उन बच्चों में हम खेले जा करके ये लालसा क्यों उत्पन्न हुई उनकी झुड़कियां सही उनके द्वारा अपमान सहा ये क्यों है ये केवल और केवल इसलिए कि उनके हृदय में प्रेम समुद्र लहरा रहा उनका जीवन एक लालसा से सर्वथा सराबोर दूसरी कोई चीज उनके हृदय में नहीं इसलिए अहोति धन्या ब्रज गौरवाणी स्तन्यानतम प्रीतमतीयते मुदा या विभू वत्सतरात्मजात्मनाम जतृप्तनिव्यापिनशालमध्वराः ओ प्रभुधन्य धन्य के गोपी धन्ये धेनु परम रसोपी बालक भय बछ भय प्रभु तिनके पीवत भय पयोधर तिनके बोरे तन पुस्तन पौधाई बार बार तुम रहत यघाई कब के यज्ञ भाग हो खात तन तुम तन को नहीं अघात क्या ये सब क्यों गोपालांगन कदमेश विहरन विप्रध्वरे लज्जसे गोकुल ब्रूषम गोकुल हूं सताम मौनम विधत्से सताम दास्यम गोकुल कुशलीषु कुरुषे स्वाम्यम न जातम कृष्ण तवांघ्रि पंकज युगम प्रेमयी कलभ्यम प्रेम ने बताया बड़ा सुंदर कहा भगवान प्रेम सुंदर प्रेममय प्रेम स्वरूप विचित्रता हमने देखी ये ग्वालों के कीचड़ भरे आंगन में तो आप लोटते गोपालांगन कर्जन देश खेलते हैं वहां पर ये क्रीड़ा की भूमि मिली आपको खेलने की ग्वालों के कहीं गोबूत पड़ा कहीं गोबर पड़ा कहीं कीचड़ फैल रहा उस कीचड़ भरे आंगन में तो भगवान बिहरन आप बिहार करते हैं लेक आप क्रीड़ा करते हैं और बड़े बड़े ब्राह्मण वेदज्ञ शास्त्रज्ञ वेद की रिचाओं के द्वारा स्तमन करके आप के नाम पर यज्ञ में आहुति देते हैं वहां जाने में आपको शर्म आती है नहीं जाते आप वहां पर प्रकट तो होते ही नहीं कहीं दूर से ग्रहण कर लिया तो कर लिया और कोई बछड़ा नहीं बोला दूर से हाँ आया तत्काल उत्तर देते हैं और नोमम विदत से सता सतपुरुष सौ सौ स्तवन करते हैं आपका न में कितनी स्तुतियां करते हैं वहां आप मौन रह जाते हैं मानो गूंगे हैं बोलते ही नहीं किसी बारे में जा रहे शाम कन्हैया बोले हाँ भैया आया कोई बछड़ा बोला तो हाँ हाँ हाँ आया और यहाँ मौनम विगत से सताम सतपुरुष ये सतपुरुष थोड़े ही हैं बछड़े और बालक सारे के सारे संत लोग बड़ी महिमा मैया की सौ सौ स्तुतियां करते हैं पर आप मौन रह जा, जा, रह जाते और दासम गोकुल पुष्चली चली शुक्र ये गोकुल की पुष्चलियां ये द्वितीय सतियों की आराध्या हैं अरुंधति अनुसुया लोफा मुद्रा ये सब गोपियों की चरण धूल चाहती हैं क्योंकि सच्चा तार्किक व्यक्तित्व का तो विकास इन्हीं में हुआ एक भगवान को छोड़ करके इन्होंने किसी को पति समझा ही नहीं तो सच्चा तार्किक जो सचित्व है सत्य का ग्रहण करने वाला वो श्री गोपांगना रावती रहा ही नहीं इसलिए वे प्रतिव्रताएं वो सतियां इनकी चरण धूल चाहती हैं परंतु कवियों की भाषा में और तत्वज्ञों की दृष्टि में प्रेम शून्य भाव में इनका नाम पुष्चली है दास्यम गोकुल पुष्चली शुक्रु से गुलामी करते हैं आप इनकी गोकुल की पुष्चलियों की तो आप गुलामी करते हैं उठो तो उठते हैं नाचो तो नाचते हैं चोरी करो चोरी करते हैं हमारे हाथ का खाओ तो खाते हैं हमसे हास विलास करो तो हास विलास करते हैं निष्कामी कामी बन जाते हैं तृप्त तृप्त बन जाते हैं योगी भोगी बन जाते हैं न मालूम क्या क्या और स्वाम्यम दांतात्मसु जिन लोगों ने अपने इंद्रियों का मन का दमन कर लिया है इतने बड़े जो महान योगी हैं यहां तो दमन उमन नहीं है गोकुल में गोकुल यहाँ सारी इंद्रियां क्रियाशील हैं यहाँ पर दमन वमन नहीं है पर यहाँ तो आप बुरा नहीं करते और वो दमन परायण दांतात्मा जहाँ इंद्रियों का मन का कोई भी काम नहीं रहता सब निगृहित हैं सब बस में हैं इस प्रकार के लोग चाहते महाराज हम हमको आप दास बना दो ब्रह्मा जी कहते दास बना दो हमको ब्रह्मा जी को नहीं मिलेगा ये भाग्य जी को मिला ये कहा भगवान ने आगे जा करके कि ये दुरुचि को ये ये, ये सौभाग्य नहीं मिला नहीं मिला उद्धव को तो मिला जरूर लेकिन ब्रह्मा को नहीं मिला तो स्वामन दान तात्मसूत जो दांतात्मा है निगृहित इंद्रिय हैं जिनका मन निगृहित है उनका स्वामित्व भी आप नहीं करना चाहते उनके मालिक भी नहीं बनना चाहते तो कहते हैं कि महाराज हमने जान लिया तवांग चरण युगल हम आपका आपके जो चरण कमल युगल हैं इनकी प्राप्ति केवल प्रेम से होती है न यहाँ पर कोई साधन है न यहाँ पर किसी प्रकार की और कोई सामग्री की आवश्यकता है जात पात कुल धर्म तप स्वाध्याय ये कोई भी यहाँ पर काम नहीं देता केवल प्रेम ही कलभ्यम हो ये जो और वो प्रेम का स्वरूप तो आपने जान ही लिया जहाँ पर निज सुख की कल्पना का लेश नहीं यही प्रेम और काम का अंत महदंतर ये ध्यान में रखने की चीज है जहां निज सुख है वहां काम है चाहे तो उसका नाम हम प्रेम रखें और जहां प्रेमास्पद का सुख है उसका नाम प्रेम तो सुखे सुखत्वम ये प्रेम का लक्षण है प्रेम अपने आप को अपने स्वरूप को खो देता है हिरत हिरत हे सखी हिरन गयो हेराय ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला खो जाता है इस प्रकार से वो रसमय ही रह जाते हैं इतनी एकात्मता होती है तो ये जहाँ पर आ जाती है तो वहाँ पर फिर दूसरी चीज रहती नहीं तो ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज ये इन गोपियों को धन्य अनादिकाल से अब तक बड़े विधि विधान से संपादित हुए यज्ञ समूह ये जिनको तृप्त नहीं कर सके कुशल कर्मकांडी ये विप्र वर्ग संपूर्ण विधियों के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करके भी जिनको तृप्त नहीं कर सके उस नित्य पूर्ण को परिपूर्ण को नित्य तृप्त को किसी द्रव्य के द्वारा साधना के द्वारा तत्व तो नहीं किया जा सकता परंतु आज नहीं तुम ब्रह्मा जी कहते हैं कि आज उसी तुम में पूर्ण स्वरूप होने पर भी गोवत्स और गोप बालक के रूप में इन गायों का गोपिकाओं का स्तन पान किया और ऐसा नहीं कि भाई क्या करें अब आगे यहाँ पर तो न करेंगे तो उनको बुरा मालूम होगा सभ्यता के नाते चलो व्यवहार है तो बहुत बड़े आदमी पर गरीब के घर में आ गए तो यहाँ अगर नहीं खाए पिएंगे तो इनको दुख होगा इस अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए नहीं लालायित होकर चाव से उनकी चीजों में रसा स्वादन करते हुए और उल्लंग में भरकर इनके जो कहीं किसी गाय के देखते कि दूध चू रहा है तो जाके मुंह में लगा देते दूध चू रहा है उसके स्वरूप से जो वो दुर्गामृत वो स्वयं अपने श्रीमुख से लेते फिर चूस चूस कर पीते हैं ये वात्सल्य प्रेम के परिपाक रूप इस अप्राकृतिक अमृत से अपनी उधर पूर्ति करते खाली हो जाता है उनका उधर विश्वोदर जो है <laughs> अनंत विश्व ब्रह्मांड जिनके उदर में भरे हैं वे स्वयं भगवान उदर पूर्ति करते उस अपराकृत प्रेम रस से और ये ब्रह्मा जी कहते महाराज ये तो कुछ छिपी बात रही नहीं हम सबने देखा गोपियों ने देखा हमने देखा कि जो निर्विकार नित्य तृप्त है वो दूध पी रहा है हमने देखा कि जिनके खेल से जिनकी माया से सारा संत समुदाय ऋषिमन समुदाय देव समुदाय विमोहित है विमुग्ध है हमने देखा कि वो स्वयं विमुग्ध हुआ और उनके साथ खेलता है